والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا أثاثا ومتاعا بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون और अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे और उसने तुमको कान और आंखें और दिल और इनके अलावा और आजा बख्शे ताकि तुम शुक्र करो क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की हवा में घिरे हुए उड़ते रहते हैं इनको अल्लाह ही थामे रखता है ईमान वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया और उसी ने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाए जिनको तुम हल्का फुल्का देखकर सफर और हजर में काम में लाते हो और उनकी ऊन और पश्चिम और बालों से तुम असबाब और बरतने की चीजें बनाते हो जो मुद्दत तक काम देती हैं और अल्लाह ही ने तुम्हारे आराम के लिए अपनी पैदा की हुई चीजों के साय बनाए और पहाड़ों में गार बनाए और तुम्हारे लिए कुर्ते बनाए जो तुमको गर्मी से बचाएं और ऐसे कुर्ते भी जो तुमको असलहा जंग के जरर से महफूज रखें इसी तरह अल्लाह अपना एहसान तुम पर पूरा करता है ताकि तुम फर्माबरदार बनो تستعتبون وإذا बस अगर ये लोग रू गर्दानी करें तो ए पैगंबर तुम्हारा काम फकत साफ साफ पहुंचा देना है ये अल्लाह की नियमतों से वाकिफ हैं मगर वाकिफ होकर उनसे इनकार करते हैं और ये अक्सर शुक्र हैं और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह यानी पैगंबर को खड़ा करेंगे फिर न तो कुफ्फार को बोलने की इजाजत मिलेगी और न उनके उज्र कबूल किए जाएंगे और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे तो फिर न तो उनके अजाब ही में तखफीफ की जाएगी और न उनको मोहलत ही दी जाएगी और जब मुशरिक अपने बनाए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि परवरदिगार ये वही हमारे शरीक हैं जिनको हम तेरे सिवा पुकारा करते थे तो वो उनके कलाम को मुस्तरद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 तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो और जब अल्लाह से अहद करो तो उसको पूरा करो और जब पक्की कस्में खाओ तो उनको मत तोड़ो कि तुम अल्लाह को अपना जामिन मुकर कर चुके हो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है और उस औरत की तरह न होना जिसने मेहनत से तो सूद काटा फिर उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला कि तुम अपनी कस्मों को आपस में इस बात का जरिया बनाने लगो कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से ज्यादा गालिब रहे बात यह है कि अल्लाह तुम्हें इससे आजमाता है और जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो क्यामत के दिन उसकी हकीकत तुम पर जाहिर कर देगा